every day. धन दीजे युग दीजे संसार बलियाज की संबा छमड़े सुत लगाए पुनबदे पावरी खे खालो समुद्रों आगी ढल जाए मटकी राव राठौड़ जोत भाग जावे खेड़े बस्ती री सोत जगो घरोरी आवे गीत री जोत जगो घरोरी गमावे ठाकर केवणा अरे किसरी केरी मेलियो ठाकुर बाबूजी अवतार मंगरेरी सिंगड़ीरा कंवर जी थण मुख धाया बड़ माता कमड़ा दे गोद भी खेलाया अरे हुई गया वर्षों में युद्ध घना जवान गादी ढड़ावे दादाजी री शीर्ष गड्डी शो प्रोड़ में खेम खाम कमरी रे गावावणिया सुपारी का धोतिया और रो कटार कोने बहन मोदी गले शोभनी कंठी दूधे शाही खिड़क ओडावन कटार हाथ कमल्ला फूल न वासना ले जा राजकुड़ी राठौड़ और समरदार तो समर ढोले केलदार केल करया झरुके झरुके मोर पपैया ठहु को जा रात राखे संदरमा दिन राखे हूर धरती माता सदाई राखे એક રાઠોડો ઉપર કાળ કટક दूर દૂર જय डेम्बो सपन वागड़ का राजा आने वागे दी करा मुंगो में जल मिया डेम्बू जी किसी भांतरा हाय हाय बनतीला जलंता पतंग का पूड़ा भाद्रवे के नदी कड़ को शाप अट्ठाई भंग तेरे मन पी है तेजारो पचास मन गुगरू एक फक्को करे छोटी मोटी नदी रो बदराशी होके में नीर भरे श्यार पौस पापीरा टापरा बाड़े यदि शिल्मियों पूरो वह को उगे आथे रिठा पड़े कैसा नृसिमरिजय करनी करनी कीजिए पीछे धरिए पाव मेरी निंद्रो वास्ताड़ी करना देरी कार करने करतार जदेन जुआ जोनिया खोलिया खंड प्रखंड कजली बन में जावते हस्ती का भी शीश निमाया नाम गणेश जी महाराज के वाया सुडाड़ा दुख भजना सदान वाली बेल सियारो पहलो सिमरिये गौरी पुत्र गुणेश गौरी पूछे रे गौरिया देश भला परदेश संपत हुए तो घर भला नित्र भला है परदेश गुणेश गृद सिद्ध नारी सेवा करे है ब्रह्मसारी પકોમર મુ શેરીઓ સમારી વડ જય બોલો સંભા મે ગુણેશ દેવતાલી દેવતારી ઓરે ગુણેશ ને ગુણ સિમરે ઘોસી સિમરે મુસી સિમરે અટીએ બેઠુડી ડોકરી સિમરે તો ગુણેશી રે નામ રે નવ કુકડે બતે ઉતારે वाजिंदा पूत पठान का भर भर नैण मत रोय होतावसी का दे दिया देखण का दिनदो वाजिंदा वाड़ी रसी रसिया पैं परा फूल दूर निरा देखना ना ता दूर दूर दूर की दूर ऊबे माता तू बावली लिख लिख वाले अंट राई घटे तिल बदे न रह जीव को संत आधरा अधूरा लिखे पूरा पूरा ही लिखे लाख रुपयो रू बींद वे तो टकेरी बींदनी पले बंदावे लाख रुपयो री बींदनी वे तो फूटी कबड़ी रो बींद पले बंदावे जोड़ो ना कुजोड़ो बेमाता डोकरी ना घरे बैठी लिखे लिखे अरे बालोड़ी पापी पर खंडे मारे दो द्रवीण का झोला हीरा सुगावे नित्र नवदन कोरा रह जावे रह जावे निर्विजय हम्म, कैसा कम करवा दिया काश मेरे मुख में अवतार धरे जदे कशावतार मशा मशावतार कम करवा दिया मशीरे मुख में अवतार धरे मशावतार बाजे कशावतार मशावतार वार अवतार टोंको टोंक धरती ने तोल दिनी है यदि बारह अवतारी जोड़ बा सिमरी जे कशा अवतार मशा अवतार बारह अवतार नरसिंह अवतार हिरणा कुछ दौड़ू दिन मरे नी रात घाटे घाटे राड करे तो रोम रो नाम टाटियो के नहीं लेवन दे अरे राम रो नाम भगत पेड़ा सूर्या दे कुंवारी लेवे ताते थोवे बात भरावे वड़ते जड़ते ने भगवान महाराज आपो आप बारे भगवान महाराज आपो आप पधार्या धर्त मौनवी का शीश है सिंगरा इना कुछ दौड़ू ने घी खोड़े में लिया हाथ पकोरा नक वदारिया सुनार जो काट संबंध में नौकरी जन शक पैदाश कियो दावियों संबंध में नौकरी जननी कबड़ी पैदाश की नी कबड़ी ने ना बाल ग्रमता फिरे तो शंख देव और शिवा में रुड़ता फिरे जय कैसा नृसिमरी जय बिलाड़े रो बड़ राजा बल्ले द्वारे भगवान महाराज बावन ओगड़ दई धान भगवान महाराज पधारे धरती का भी दान मांगे धरती बख्शीश नी अटी पौडा धरती ने की नी तो बड़ राजा री जोड़ भलो सिमरी जे सिमरी जे कैसा सिमरी जे कौन कौन बजाए कन बजावे बंशली प्रभु राधा दे गुणताल कहे सर्जन खेल गया कौन कोना बाल बने गोपाल सगे मामे कंस की छोटी पकड़ी माथे गुरजोरी छोट लगावे तो कौन जी राजा जमावे बारे बारे सोई कोसरी भावे तो राजा रामचंद्र जी एक राज भी हटा राम लक्ष्मण की जोड़ी घड़ी पलक में लंका तोड़ी सीता एक सतवंती जय बोलो हनुमान जत्ती थाली जी में श्री भगवान की कोला करे संबंध देख दही पाए बा देख दही का खेल वभी कणकों लंका मिली हनुमान को तेल वृंदावनरी वनरी थे जाया हड़मत वीर गढ़ लंका पर आका करे अजड़ी रापूत भी हनुमान अरे रामा क्यों राम दे हीरा क्यों लाल जाना मिलिया राम साबीर बाबू कर गयो न्याल केसरियो वागो बणियो तुर्रे तार हजार दिलेंदो पाशतापण रोमो राज कुमार सेत घोड़ा सेत पिलान जिन पर छड़े रही मान धारे में भरे दूरी तारी पानी छड़े लकड़ तो डूबे न लो तेरे गुड़द गायो महात्मा आयो धर्म देश सतयुग में भगारे घूंगटा काटते मैं उड़ा ले सका जे कैसा नरसिमरिये क्षेत्र घोड़ो सिमरिये तीन पाव धरती धरिया चौथो पाव अंकाश चौथो पाव धरती पर कद धरे हिंदू मुसलमान का प्याला भी एक हो है दिल्ली शहर में गेहूं गे गिरा टोके नीर तोली ટોકે હું નીર તોલી જશે જદી ચોથો પાવ ધરતી પર ધરે કેશાન સિમરી જય सिद्राव સિદ્રાવ સોળંખી जोड़ સિમરી जे काली नाड़ी पर पौडिया मीडा राव सोलंकी गोमे जी जीरा कंवर भगवता सिद्ध भलो सिमरी सिमरी रे हम्म, कैसांद्र सिमरी जे कालो भैरु काल कातणो गोरो शवंड को पूत आको तोड़े तेजरा गमावे समासी या भूत खुफर में खावर मशाणो में लेटे ગુણભાગ્યો કાળે ગોરે ભેરુરી સેવા મેટે રાજ મેટે તો રાજ દુઃખ પાય પરજા મેટે तो दूध પૂતું ગમજા સભે દ્વારા સભા ગયા જહકા મર્દ મંડાયા बूटा बूटा खादरू जोधपुरी भाखरी ये काले गोरे भैरू सड़ाया कैसा नरसिमरी रे ईश्वरी जगदीश्वरी पत्थर फोड़ प्यार सुनीश्वरी बड़ा बड़ी जोग माया बालक बहुत संभा शोभनीय तरसूड़ वाली खिड़क बांध ने हृदय रो दीकरो याद करे तो सिर दुखे है न को पाव शिवरी कशान शिवरिये शिवदिनी टूक भागी भवरी भूख नीबा नाथ बिराजे सिर मुकुट में भारा देख पार्वती कंथ भी है तमारा करो शिव जी री सहल आगोत्र पाओ मेल करो शिव महादीरी सेवा तो आगोत्र पाओ थे मेवा मेवा सिमरी सिमरिजे अगले राधिका मात पित्यार आज्ञाकारी वहाँ इतरोरी कावड़ ले गंगा ने बुआ हमें जो गोरा सोरा ऐसा हुआ खोटिया ले लुगाया न्यारा हुआ एक फिर से में दो फिर जा करे हाड़ो नो नेत जिमावे भाजो आड़ी राखे वाड़ रावतियारण गेला भागड़ी बिड़रा तोड़ा घात बैठा खिसी ठकरा अड़बड़ी पेशोरा हिंगुड़पुर ओखेरा ढालोरा धमीड़ पड़े वर्षियों का घमीड़ पड़े हवा मुड़की सिरगाड़ हनौन करे નવશો ઘોડો રી પાખર પડે ને ઉડતો ઘોડો ને દળવી ડેમડું ઢાબે પદ્મારાણી નાગ જગાઓ शैंस फूण कर नाग जागा कृष्ण भगवान पकड़ लिया यहाँ मत कर कमर कान ली अंधा तेज वाड़ो जय जो वाड़ो मल पसाड़े जय सिंह भाटी री जोड़ भी सिमरी जय सातो सतियोरी जोड़ भी सिमरी जय गेलो द्रोणी पेड़ पर नाले वाड़ो जलमावे जड़ू रूप ना ना द्रावे તો પાર્સ પીપળી હિંડાઈ બંધાવે સાંદ્ર સિમરી જે ડોલા તમીણે દેશ મેં તીન રતન દેખિયા એક ડોલો બીજી મરવલ કેંકુ ભરણો કરહલો તીન પગતણા તીન ખંડ લંગિયા છૂટે લંગિયા શ્યાર कह जो रूम सुमरे पासता ने क्यों मारे है लाखी नाटार ये कैसा नृसिमरी ये ईरु शारणी वीरु भाटणी लाखी लोबड़ी आवड़ी शोभनी तरसीड़ू वाली सीता हो राम लक्ष्मण ने सड़ियाओ जीड़ुओ ने तो ने सड़ियाओ सुरठो ने राव खेंगार ने सड़ियो द्रुपदाओ ने पौस पौड़ू हेमाड़े गाड़ियाओ गुजरियो ने मिर्जाखो ने सड़ियाओ देवलोन ठाकर पाबू ने छड़न आई यदि केसर घोड़ी रे कारण धर्मरी बेन के भाई अरे घोड़ी तू जड़ जाई थड़ुपनी बाप गंगा जड़ हीर और सुमिर्क विराजे घोड़ो रो सोनी ठाकर पाबू ने केसर घोड़ी ने हवा पोर दिन सड़े तो एक दल मुजराई हाजे पावी दरबार में माली मिल भिड़े मीडा थोड़े कालिया ने रणरा खट्टू कापड़े गेंडा डाट करे गीतो गुणोरी पारखा ये भूरे राठोड़े दरबार में पड़े केशी भादरी भाथा बसे समारो सातवी संभड़े अवार कह दूं प्रभाती उतारू के जके हूं पैर कयो हो भोपाल